अब जो है अब क्या रोगे आगे प्रमाण एक ही भाई सबको एसिडिटी नहीं बताया बताओ जीरा अल्सर वो वही है जीरा एसिडिटी अल्सर दोनों भाई भाई सूट जीरा और थोड़ा नमक अल्सर भी वही काम करेगा जीरा ही काम करेगा अल्सर में सूट नहीं चाहिए खाली जीरा वही पानी में डाल के उबाल के अरे सर कितना दिन का है अगर ज्यादा दिन है तो ज्यादा दिन देना पड़ेगा कम दिन का है तो जल्दी ठीक होगा हड़द पानी भी दे सकते हैं उसको पानी में हड़द मिला के अल्सर अगर बहुत खराब है तो अल्सर माने पोट में होने वाला कोई घाव अंदर जो घाव होता है उसको अल्सर कहते हैं आंकड़े में हो सकता है वो तो कई कारण है उसके खून आता नहीं भी आता ये अंदर जो आहार नली है इसमें कहीं भी घाव हो सकता है आतड़ियों में हो सकता है जहां पर हमारा जठर है वहां हो सकता है कहीं भी अंदर घाव हो गया उसको अल्सर कह देते हैं आ भी सकता है खून नहीं भी आ सकता जरूरी नहीं है